कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा भारी वैर हुआ वह सोचने लगा देवता मेरा क्या कर लेंगे विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा समस्त यज्ञ द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए उस देवते का बर्ताव तो ऐसा था परंतु उसके पुत्र प्रहलाद सिरर की स्तुति करते थे जिनसे जिसकी मृत्यु होने वाली थी जिन्हें उन्हीं भगवान विष्णु का भी चिंतन करने लगे जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती तब भी वे हरि हरि का ही कीर्तन करते थे जो चार भुजाओं से सुशोभित शंख चक्र गदाधारी खड़ग धारण करने वाले पिताम्बरधारी कौस्तुभ मणि से उदासीभूत उभ्यासित तथा संपूर्ण जगत के एक बात स्वामी है जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूँ उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्य से बोला मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी सर्प जल और अग्नि द्वारा मार डालो प्रहलाद बोले दैत्यराज हाथी से भी विष्णु और सर्प में विष्णु है जल में भी विष्णु है और स्थल में भी विष्णु है इनमें तुम में और मुझ में भी वे ही विराजमान है विष्णु के बिना यह दैत्यों का समुदाय भी नहीं है सदा प्रयत्न प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जाती थी तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी यह देख हिरण्यकश्यप को छाती क्रोध अग्नि से जलती रहती थी तब उसने पुत्र को स्वयं दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार चलानी और कठोर वचनों से डांटते हुए उसे मार डालने का उद्योग किया वह बोला अरे बालक तुझे धिक्कार है तू नारायण की स्तुति करता है बार-बार मेरे शत्रु का गुण गाता है अतः इस श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सिर उखाड़ देता हूँ उड़ा देता हूँ मैं ही विष्णु हूँ मैं ही ब्रह्मा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ इंद्र और वरदाता प्रभु मैं ही हूँ तू अपने पिता को छोड़कर दूसरे की स्तुति क्यों करता है बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता माता की स्तुति भी नहीं करता तथा गुरुजनों के छीड़े से मारकर छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया प्रहलाद बोले जिन सर्वव्यापी श्रीहरि ने चराचर पुराने सहित तीनों लोगों को उत्पन्न किया पढ़ाया बढ़ाया फिर सबका शमन किया है उन्हीं की मैं स्तुति करता हूँ वे ही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हुए ब्रह्म जी भी विष्णु है शिव भी विष्णु ही है इंद्र वायु यम और अग्नि भी विष्णु है प्रगति आदि चौबीस तत्व और अनेक साक्षी पच्चीसवे पुरुष भी विष्णु ही है वे ही पिताजी के गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित है यह जानने पर भी कोई मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है गुरुजी ने कहा शिष्य यह तो बता मनुष्यों में नीचे कौन है प्रहलाद जी ने कहा पुत्र जन्म आदि के समय मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों में जिसके मुख से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण नहीं होता वही मनुष्य में अधम है यह राजकुल से समागम युद्ध व्याधि श्री स्त्री संगम विपरीत यात्रा तथा मृत्यु के समय जो इस पृथ्वी पर रहते हुए श्रीहरि को भूलकर माता पिता स्मरण करते वो मूर्ख मानव मनुष्यों में अधम है मेरे तो ना माता है ना पिता है ना स्वजन है ना सेवक है श्रीहरि बिना मेरा कोई नहीं है आपको जो उचित ज्ञान पड़ता जान पड़ता है वह बर्ताव कीजिए इस तरह की बातों से दत्त को बड़ा क्रोध हुआ और मारने के लिए सेमी पाए इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आंचल से ढक लिया और उसके भाई स्वजन तथा बहन वे सभी आकर कहने लगे भैया तू हरी हरी मत बोल मैं तेरी माता हूँ यह बहन है ये भाई है तथा ये स्वजन हुलो है हम सब तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं इसलिए हम बहुत दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए प्रहलाद बोले प्रगति मेरी माता है बुद्धि मेरी बहन है जिसको मैं कहता कहा जाता है वह अहंकार है पंचतंत्र मंत्राओं के समुदाय के मेरे सुहद भाई हैं जो मेरे साथ ही जाते हैं इनको उत्पन्न करने वाला जो पंच सेवा पुरुष है वही मेरा पिता है परमात्मा श्री ही अंतर्यामी है इस शरीर में स्थित है यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं उनका चरण ही अरणिमा आठों आदि सिद्धियों का स्थान है आप लोगों के लिए राज्य ही अभिष्ट वस्तु है परंतु जहाँ भगवान विष्णु का पूजन आदर नहीं होता वह राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है ब्रह्मा रुद्र अनल आदि के रूप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता जो बिना किसी आधार के ही सर्वत विचरते वही भगवान विष्णु है ये जो आकाश में स्थित और ध्रुव से बने हुए हैं संपूर्ण ग्रह दृष्टि गोचर होते हैं वे सब भगवान विष्णु के ही वचन से विभक्ति पर पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं फिर प्रलय काल में वे ही सब का विनाश करते हैं ऐसा विचार करके मुझे आप लोगों से मृत्यु का भय नहीं है प्रहलाद की यह बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मारकर कहा कहां है तेरा हरि पहले मैं उसी को मारता हूं उसके बाद हरि हरि की रट लगाने वाले तुझ दुष्ट का भी मैं वध कर डालूंगा वध कर डालूंगा तेरा मैं वध कर डालूंगा प्रहलाद के कहने पर प्रहलाद ने कहा पृथ्वी आदि पांचों भूत भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं ये स्थल और जन्म है अधिक कहने से क्या लाभ यह संपूर्ण जगत विष्णु में ही है तृण काष्ठ ग्रह क्षेत्र द्रव्य और देह सब में श्री हरि स्थित है विज्ञान योग से जाने जाते हैं इस चर्म चक्षु से नहीं देखे जाते भगवान विष्णु सब सुनते हैं सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं प्रहलाद के कहने पर हिरण्यकश्यप सहा अट्टहास सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया उसने दृढ़ता पूर्वक कमर कस ली और मयान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मार कर कहा अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर ले मैं अभी उज्जवल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा जैसे वृक्षों से पका हुआ फल गिराया जाता है कोई भी जीवित रहना चाहता है तो इस खंबे से अपने विष्णु को निकाल कर दिखा प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगा पक्ष पर बैठ गए और कंधा नीचे करके श्वास को रोककर अपने हृदय में भगवान श्री का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए पर वो उस समय मैंने एक आश्चर्य की बात देखी आकाश से फूलों की एक माला नीचे आई और सोही प्रहलाद जी के गले में पड़ी इतने में ही खंबे से एक भयंकर आवाज आई जिसे सुनकर सब लोग शुद्ध हुए और मन ही मन सोचने लगे यह क्या पृथ्वी पाताल में धस जाएगी अथवा क्या स्वर्गलोक कर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा अथवा प्रहलाद सिर इस व्यक्ति के खड़क से कटकर पृथ्वी पर तो नहीं गिर जाएगा इस समय खंबे से बड़ा भयानक सिंहनाद हुआ उस शब्द से मूर्छित होकर सब देवते पृथ्वी पर गिर पड़े हिरण्यकश्यप के हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई वह सोचने लगा यह क्या है जब सिर ऊंचा करके वह देखने लगा तब भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी नीचे से मनुष्य की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का स्वरूप धाड़ों के कारण विकराल मुख मानो वे आकाश को चाट लेंगे शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था मुख से भयानक कटकटी ध्वनि हो रही थी मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो गर्दन के गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे देवता और दैत्य सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था उन्हें देखकर वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा नरसिंह ने उसके बाल पकड़कर आकाश में सौ बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया परंतु ब्रह्म जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई तब भगवान ने हिरण्यकश्यप को घुटनों पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली देवता जय जयकार करने लगे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शांति छा गई हिरण्य कश्यप का मृत्यु के पश्चात विष्णु भक्त प्रहलाद जी दैत्य के राजा बनाए गए उन्होंने बहुत वर्षों तक भूमंडल का राज्य किया उनके अनेक पुत्र हुए जिनमें विरोचन श्रेष्ठ थे विरोचन से बलि का जन्म हुआ बलि के उत्पन्न होने के पश्चात विरोचन ने एकांत में योग साधन करके श्रीहरि के तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और राज्य त्याग कर वे पर्वत शिखर पर चले गए श्री हरि ने उनके शरीर को कल्पांतर स्थायी कर दिया तदंतर हम में से कौन राजा हुआ इस प्रश्न को लेकर देवते और दानवों में बड़ा विवाद हुआ तब प्रहलाद जी ने आकर एक व्यवस्था की उन्होंने कहा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दीर्घायु अतिशय बलवान यज्ञशीला सदा आनंद युक्त अधिक पुत्र वाला तथा अत्यंत दुर्जा हो जो देवताओं के साथ अकारण युद्ध ना करे और भगवान विष्णु को सर्वोपरि अजय शक्ति के रूप में जाने जिसकी संग्राम में मृत्यु ना हो जो सर्वस्व दक्षिण में दे देने वाला हो अपनी बात कभी व्यर्थ ना होने देता हो तथा सब पुत्रों में जो अपनी स्वभावक्ति शरीर के द्वारा अधिक शोभा पाता हो उस व्यक्ति को जब गुरुदेव शुक्राचार्य राज्य पद पर अभिषेक कर देंगे तब वहाँ सब ऋतु का राजा हो राजा होने योग्य कौन है इसके निर्णय में गुरुदेव ही प्रणाम है प्रमाण है यूं कहकर प्रहलाद जी चले गए व्यवस्था का पालन करने लगे शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि की राजा बलि को गुणों में अधिक देखकर तथा प्रहलाद के सभी गुण बलि में विद्वान है जो समझकर उन्हीं को दैत्यों का राजा बनाया जाए वामन जी मुझे यह दैत्यों के देखने के लिए बड़ी उत्कंठा रहती है ब्राह्मणों को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है आप भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं अतः बताइए कब युद्ध करेंगे